वर्तमान काल में मनुष्य जाति इतनी बिगड़ी है इतना दूषित हो गया है मानव सीमाओं के बाहर जा रहा है मैं सेवा क्या करता ऐसी भूल मत करना वो ये सोच सकता है कि मैं जो अच्छाई की ओर चलूंगा बुराई से टकराऊंगा तो मुझे कोई जीने नहीं मिलेगा ऐसा वो सोचता सबसे डर लगता है ईश्वर से कम लगता है कितने ऐसे विचार हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ेंगे विचारों के आधार पर मानव जीवन चलता है जैसे विचार जैसा माने जो कहो जैसा ज्ञान जैसे विचार जैसा मनन जैसा बुद्धि का निर्णय वैसा उसका उचित न सोचना है ये मैंने छोटे से संकेत दिए मैं शुद्ध कैसे सोचता हूं ये जो बात स्वयं अपना जीवन फिर परिवार फिर समाज फिर देश फिर विश्व पांच स्थान यदि आप ऐसा सोचेंगे तो ठीक आपकी विचारधारा होगी उन्नति कर पाएंगे तो आप मंत्र आपको याद रहना चाहिए कुछ वेद के मंत्र याद करो उनका अर्थ रहे तो वेद के प्रति श्रद्धा विश्वास individuo en hora de Jerusalén. Vos lo habéis que yo le आप प्रतिदिन कर सकते हैं व्यक्ति शरीर को आत्मा मान के चलता रहता है और आत्मा का जो स्वरूप है उसको वो नहीं जानता ऋषियों ने बताया कि आत्मा का निर्माण अर्थात संस्कार शरीर का संस्कार करो फिर मन का संस्कार जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है वो आत्मा का संस्कार कर सकता है जो इंद्रिया मन का स्वरूप जानता है वो मन का संस्कार कर सकता है जो शरीर को समझता है वो शरीर का संस्कार कर लेता है ये सीखना पड़ेगा जो आप प्रातःकाल उठते पहुंच जाते हैं दातुन करते हैं पानी पीते हैं फिर स्नान करते हैं ये शरीर का संस्कार है जो हम अच्छा भोजन करते हैं उत्तम भोजन करते हैं ये शरीर का संस्कार है जो हम व्यायाम करते हैं ये शरीर का संस्कार जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है उस शरीर के संस्कार कितने ऐसी चीजें हैं जिनको करने शरीर शुद्ध पवित्र निरोग दिखाई बात में देखनी चाहिए कि हम शरीर का संस्कार करें एक भावना भावना साथ जुड़ी रहती है व्यक्ति के साथ व्यायाम के समय कभी विधि पूर्वक व्यायाम करें और भावना को जोड़ो मैं स्वस्थ बलवान बन गया वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा इसलिए कितने लोग दर्पण को सामने रखते हैं और खूब दल बैठक मारते हैं पसीने पसीना होते हैं वो उनकी भावना होती है हम अपना निर्माण करें वो भावना को विचारों को साथ में जोड़ा जाए तो वो संस्कार नहीं आप कानून से सुन रहे बैठ के नींद बचे आ रही बैठना पड़ेगा ही अनसाया हुआ व्यक्ति है बुद्धि का मन इंद्रियों का संस्कार कुछ नहीं होगा जो बात सुनाई जा रही है उसका प्रभाव मन पर बुद्धि पर अच्छा नहीं पड़ेगा भावना के साथ व्यक्ति जो करता हो वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई में है ऊंचे स्तर को प्राप्त का ये युवक है विद्यार्थी इनके अंदर में ये भावनाएं उभरे हम अपने आप को शरीर से स्वस्थ और बलवान बनाएंगे महान बनाएंगे और बड़ी श्रद्धा से व्यायाम करते और श्रद्धा से नियम का पालन करते थोड़े ही काल में उनकी उन्नति हो जाएगी ये जो आठ लाख है इनका यदि ध्यान में रखा जाए तो <clears throat> देखने में बुरी चीज को देखना सुनने में बुरी बातों को सुनना ये मन क्रिया के तो संस्कार <clears throat> जब आंखों से बुरी चीज दिखाई देती है या हम देखते हैं उसको झट होते नहीं देखते देखभाल व्यक्ति अच्छाई बुराई वो सतत देखता है लगातार देखता ध्यान में देने तो उसको कुछ बता नहीं सकते इसलिए ऋषियों इसको इंद्रिय निग्रह का इंद्रिया अपने अधिकार में रहती है उनसे जो बात लेनी हो देते जाते हैं जो नहीं लेनी हो उसको हटा ही जलता है यदि व्यक्ति मन इंद्रियों के संबंध में ज्ञान नहीं रखता उसकी स्थिति क्या होती है आपको बताओ ये जो आंखों से नहीं देखनी चाहिए वस्तु वो आंखों में आदि करती है क्या समझे आप नहीं चाहते हुए भी आंखों के माध्यम से अंदर घुस जाए जैसे किसी व्यक्ति से कुछ तनातनी हो गई तनाव थोड़ा सा ईर्षा सुरेश और उसको देखते ही क्या मन माता आपके हम्म? देखते ही द्वेष उत्पन्न होता होता नहीं होता नहीं ये तो तरह की बात है इंद्रियों को संभाल के रखना इनको सुरक्षित बनाना वो व्यक्ति चाहे राम हो चाहे देश हो सतत देखता और वो जानता है मैं द्वेश करूंगा तो पूरे संस्कार क्यों बनेंगे वो भी द्वेश को नहीं बनने देता वही का वैर किसी में राग है राग का मतलब आकर्षण आसक्ति वो उसमें राग से युक्त हो ध्यान नहीं दिया जाए तो जिस चीज में राग है वो ध्यान अवस्था में दिखाई देती आप बताइए क्या अनुभव आप पुस्तकों को झुकने का क्या अनुभव हम्म? फिर आगे चल के देखेंगे आप आप देखते हैं कि अब ये अच्छा नहीं अब तो ईश्वर का ध्यान करना है इस व्यक्ति को याद नहीं करना आपने प्रयास पुनरपि वही व्यक्ति याद करना आपने फिर अपना फिर वही सावधानी करा आप जिम्मेदारी आप अपरा बताइए कैसा होता है ऐसा ही कई बातें काम करती हैं राग को रोक रहे राग को रोकने में एक काम सिद्धांत करता है कि मैं आत्मा हूं मन को मैं चलाता हूं मन इंद्रियों को चलाता है अब मैं मन को उस रूप में नहीं लगाऊंगा जो मैंने देखा था वैसे उसको नियंत्रित कर अब क्या समझ में फिर से सुनिए यदि आप मन को चेतन मानेंगे तो नहीं रोक सकेंगे यदि आप मन को जड़ मानने के प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे अब क्या समझ में आया दोहराइए साधना करने वाला व्यक्ति योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि मन को जड़मान के प्रयोग करता है तो उस राग वाली वस्तु को रोकने में समर्थ हो जाता है यदि इसको मान दिखेगा उसको कि गया मन ले आया मन जा रहा है क्या ऐसा सोचता इसका अर्थ है कि मन के विषय में व्यक्ति ठीक नहीं दोहराओ वाक्यों से क्या होता है संस्कार बनते हैं शब्द और वाक्य जो हम सुनते हैं बार बार ये ध्यान से सुना जाए तो उससे संस्कार बनते एक संस्कार बनाया आपने मंजर बना पहले चेतन मानते थे आप हम उसको तो जड़ मानने लगे तो जो चेतन मानते आज बीस तीस वर्ष से वो संस्कार को तो उठा के दे दिया हटा अब उसको जड़ मानने लगे तो ये संस्कार का जड़ पर आ ये तो पर इतना सरल तो नहीं आप दो हजार जन्म दूर कर दें पर कालांतर में निश्चित रूप में दूर कर देंगे आप सुनाता हूं तो थोड़ा एकादश अड़तालीस वर्ष हो गए पचास जब उस समय तक के परीक्षण मेरे याद करता इन चीजों के परीक्षण परीक्षण होते रहते हैं और वो परीक्षण करता ही रहता हूं खोज करता ही रहता हूं गवेषणा दर्शन में उपनिषद अपनी हुआ उम्र चलती है और पता नहीं कितनी बातें निकालता रहता हूं मैं और विपुल को पढ़ाता हूं फिर उनको बताता बिल्कुल कहता हूं ऐसे कर ऐसे होगा अब ये भी याद रख लो कि आज से पचास वर्ष पहले तो मैं भी इसी झंझट में था ये मन में विचार आ जाते हैं मन में विचार आ जाते हैं ये झंझट मेरे सामने कालांतर में प्रयास किया वो हटाते हटाते हटाते दूर कर बड़ी बाधाएं आती हैं मानसिक रूप में जब हम मन को जल समझते हैं तो झट रोक देते हैं यदि हम उनको चेतन समझते हैं तो फिर हमारे बस की बात नहीं रही आप किसी दिन काम पड़ गए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया चोरी आदि का और मित्र नहीं लगा दिया विश्वासघात कर दिया तो आप सोना चाहेंगे ज्ञान गति निर्णय नहीं मानसिक स्तर पर तनाव होगा फिर आप प्रयास करेंगे बारह बज जाएंगे करते जाइए करते जाइए तीन बजे तक निकल जाए आपका क्या अनुभव है बोलिए यह रुपया करेंगे आप पता नहीं कितने ज्ञान विज्ञान की बातें हैं इनको सीखना है लोग इतनी शक्ति नहीं है कि आपने सुन लिया और पढ़ लिया और आगे ध्यान के शब्दों सुन लिया ऐसा नहीं एक विषय है उदाहरण के रूप में रखता हूं संसार के विषय भोगों में दुख है क्या समझे आप दुख है ठीक है कोई कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति कितनी बार वो पढ़ता विषय में दुख है ये अनुभूति होना कोई साधारण बात नहीं अब क्या समझ में आया दुख है क्यों जी पीछे वाले को सुनाई दे रहा है जी अब पूछताछ की भाषा में क्यों समझाया जाता है इसके बिना आप समझेंगे नहीं तीन स्थिति मोदी मोदी बना संसार के विषयों में सुख मान के चल रहा एक दूसरी बात ऋषियों ने बताया उसमें दुख है हमारे समझ में नहीं आता और ऋषियों ने बताया दुख है तो उसने मान लिया ऋषियों ने बताया कि दुख है पर मन नहीं मानता दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति विषय में विषय को सुख मानते हैं एक विभाजन है दूसरा ऋषि लोग कहते हैं कि दुख है पर हमको अभी दिखाई नहीं देता हमने ऋषियों की बात मानी हम टक्कर लेते दुख है तीसरी स्थिति वो जैसा ऋषियों ने बताया उसको दुख नहीं लगता अब तीनों बातों को अलग अलग विभाजित करें आप ये बोलिए क्या सोचना है तीनों स्थितियों को मोटे रूप में देखी संसार के पाचलियों के किसी लोगों में दुख है सुख है ये लौकिक व्यक्ति सब समझते फिर ऋषि कहते हैं वो सुख है पर साधक इसको मानने के लिए इस रूप में तैयार है कि ऋषियों ने लिखा इसलिए मैं मानता हूं अब क्या समझा ऋषियों ने इनमें दुख लिखा है इसलिए मैं दुख मानता हूं पर मेरे दिमाग में अनुभूति का विषय अब तक अनुभूति का विषय नहीं बना और हम पहुंचे के काफी रखना जिस दिन ये अनुभूति का विषय बन जाएगा उस दिन समझ लेना कि हम अंतिम अवस्था में पहुंच गए तो समझ रखिए इंद्रिया मन का संस्कार शरीर का संस्कार ये रूप में हम करते रहते हैं लगातार कैसे सोचते हैं हम उसी को आधा प्रयास में आरंभ कर दीजिए लगातार पंद्रह वर्ष अध्ययन चिंतन करते गए दस वर्ष लिए इस प्रकार से एक दिन ऐसी स्थिति आएगी इस पंद्रह वर्ष पहले जो बात सुनी थी आज वो स्पष्ट है ये जो आपको दिखता ना मन गड़पदान ये विषय गंभीर है पर एक दिन ऐसा आएगा आप मन करेंगे तो वह सीखेगा कि मन सचमुच गड़पदान प्रत्यक्ष होगा और वहां देखेंगे कि इस विषय में नहीं चलाना नहीं चलाना ये देखेंगे आप व्यवस्था नहीं होगी क्या समझे आप व्यवस्था नहीं होगी वो खेला दोनों अंतर क्या है विवशता तो ये है चलो मानना पड़ेगा मान लो करना पड़ेगा विवश <coughs> एक वश्यता पूर्ण नहीं चला रहा या चला रहा या चले या नहीं चला रहा वश्यता पूरी हो अब हम विराम की ओर चलेंगे हम्म? मनुष्य निर्माण के लिए यहां आए थे हम्म? और एडी से चोटी तक का जोर लगाई आपने देखा जो विद्यार्थी सौ के सौ अंक प्राप्त करना चाहते हैं शत प्रतिशत वो कितना दिमाग लगाते होंगे जो विश्व में विजयी होना चाहते हैं खेल वाले आपने खेलों में देखा होगा कितना जोर लगाते हुए आश्चर्य की बात तो विश्व विजयी होते हैं इतना जोर लगाते हैं पानी की चोटियों पर जब चढ़ते हैं माता भी जाती है वहां पुरुष भी मर जाती है कितना जोर लगाते होंगे आप फिर विद्या के लिए आप कुछ भी जोर नहीं लगाए तो फिर विद्या नहीं आते तो कभी ने एक बात कही Bueno, bueno... सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वानुगमतीय बंधना मृत्युर्मुक्षीय मां अमृता मंत्र के पदों को देखिए पहले क्या है त्रि अंबका गीता अम्बकम रक्षकम जो दीन का रक्षक है यहां तक पहुंच नहीं रहना समझ में आया चाहिए वो चुपचाप बोलने से विद्यार्थी करते हैं उपासना करते हैं उसके आदेश का पालन करते हैं उसकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करते हैं ध्यान अवस्थित होकर समाधि लगाते हैं तो क्या हुआ यह जामायका ये जामायका क्या हुआ अब देखो ये ध्यान नहीं दिया तो समझ में ऐसे पढ़ाई नहीं आती वे स्पष्ट भाषा बोलने पर तत्काल सुना देनी चाहिए त्रम्बकम का अर्थ आ गया फिर यजामा एक अर्थ आ गया तो यजामा एक अर्थ पूछा गया तो उसका उत्तर ठीक देना सुगंधिम पुष्टिवर धनम 报警。 जातियां भिन्न भिन्न होती है वैसे पर एक जाति ऐसी होती है खरबूजा पकने पर बड़ा स्वादिष्ट सुगंधी युक्त हो जाता है और डंकर से स्वतः दूर हो जाता है पूर्वारूकम इव खरबूजे की बाटी अब क्या समझ आया इव का असर उपमा उपमा का मतलब इसका चंद्रमा ये क्या है चंद्रमा इव चंद्रमा ये तुल्य उपमा दी जाती है तो पूर्वानुकम इव खरबूजे की भांति खरबूजा पकड़ने पर अत्यंत आनंद प्रण हो जाता है स्वादिष्ट हो जाता है एक का संकेत देने से तीन चार छह बातें उसके साथ ग्रहण हो जाती है इसको सांकेतिक बात करते हैं संकेतों को व्यक्ति पकड़ने वाला एक बात से तीन चार छह बातें निकाल मृत्यु का दुख बहुत भयंकर है उससे सारे दुखों का ग्रहण हो जाता है मृत्युर्मुखीय मृत्यु आदि दुखों से छुटा दो एक माँ का अर्थ है हिंदी भाषा में ये मां बैठी इनको मां कहते आप क्या कहते हैं बा गुजराती वाले क्या बोलते हैं बा या बा बोलते हैं ना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से आत्मा का मन का इंद्रियों का सबका संस्कार आप में से बच्चों को किसी को छोड़ दो जो ऐसे लोग हैं जो अब मंत्र का नहीं आया हो समझ में नहीं आया हो तो पूछो अब पूछने वाला बोलना नहीं चाहेगा क्या वो ये नहीं सोच सकता मुझे क्या कहीं कितना मूर्ख है इतना समझाने वाले नहीं आया इसलिए नहीं पूछेगा दूसरी समस्या है कि तो एक भाषा बताई कि मनुष्य का निर्माण संस्कारों से होता है मनुष्य को अच्छा व्यक्ति बनाना अच्छा अपने लिए और दूसरों के लिए सुखप्रद बनाना यह व्यक्ति का निर्माण संस्कार के माध्यम से होता है एक मोटी भाषा में हम इसको बोलना चाहेंगे तो ये कहेंगे कि किसी द्रव्य को मूल स्तर से उठा करके ऊपर की ओर ले जाना गुरु का आधार कर देना से सुनिए किसी वस्तु के किसी चीज के दोषों को दूर करके उसमें गुणों का आधान कर देने का नाम संस्कार दोहराइए ये वाक्य ऐसा है इसी वस्तु इसी पदार्थ के दोषों को दूर कर देना उसमें गुणों का आधान कर देना उत्कृष्ट बना देना अपने लिए दूसरों के लिए लाभप्रद बना देना ये क्रिया जो होती है इसका नाम संस्कार को ऊंचे उठाने के लिए ये प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे संस्कार कहलाते हैं यदि और मोटी तो सी भाषा पर बोलना हो तो अपने घरों पर शान बनाते हैं ताल बनाते हैं उसमें भावना देते हैं संस्कार डालते हैं शौक लगाते हैं जो उचित रूप में शौक लगाया जाता है अच्छी चीजों का वो वस्तु स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होती है जैसे माता माताएं आटा भूनती है ना उसको फिर गर्भाधारा बो दिया वो कहने लगा भाई एक सप्ताह तक वर्षा नहीं हुई तो बड़ा भारी नुकसान होगा कुमार कहने लगा एक सप्ताह में ही वर्षा हुई तो हमारा तो विनाश हो बताओ कहे वर्षा ना हो हाँ किसान कहे वर्षा जरूर हो हाँ। तो भगवान क्या कहे सुनाया था कालांतर में उचित मात्रा में पकाता हुआ उसको ठंडा होने पर निकालता है और उसके पश्चात वही मिट्टी जो जंगल की थी उसको संस्कृत करते करते करते इतना अच्छा पानी उसका होता है स्वास्थ्य के लिए भी प्यास जाने के लिए भी और इकट्ठा पानी रखने के लिए तो इसका मतलब ये निकला कि उसको बाहर मिट्टी का संस्कार कर दिया ये उदाहरण दिया गया मिट्टी का जैसे संस्कार हुआ है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पदार्थ चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो वो संस्कारों से संस्कृत होता है इसी प्रकार है तो ध्यान दो हमें आत्मा का संस्कार और शरीर का इंद्रियों का ऋषि ने क्या लिखा था ये संस्कार की परिभाषा संस्कार जिसको कहते हैं कि इससे शरीर मन और आत्मा उत्तम गए तो हमारा शरीर उत्तम बन जाए और हमारा आत्मा भी उत्तम बने और हमारा मन भी उत्तम बने मन के कहने से यह सब इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए सब इंद्रियों मन के कहने से क्या ग्रहण करेंगे आप सभी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन के कहने से सभी इंद्रियों का करण किया है मन इंद्रिया शरीर और आत्मा तीन विभाग बना आत्मा को उत्कृष्ट बनाओ उत्तम बनाओ फिर शरीर को स्वस्थ बलवान दीर्घायु वाला बनाओ फिर इंद्रियों कर्म ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध पवित्र बनाओ तो तीनों को उत्कृष्ट बनाना इनको ऊंचे स्तर पर पहुंचा ये संस्कार नाम की चीज है आज बड़ी दौरभाग्य की बात है कि मानव को इतना भयंकर रूप में बिगाड़ा जा रहा है और वो इतना विकृत हो चुका है कि सारा विश्व आग में चल रहा है आप किसी देश को देखो कोई देश बचा हुआ होगा हो सकता है पौने 200 देश है कितने हैं लगभग कोई देश मिलेगा जहां मार का रख न्याय का धूल नहीं बज रहा पूरा मनुष्य पर धर्म नाम की चीज दया नाम की चीज धरती पर दिखाई नहीं भले ही ये लोग विज्ञान वाले कहीं हमने विज्ञान को बढ़ा दिया हम ये मानते हैं कि विज्ञान अपने आप में थोड़ा नहीं है बहुत उत्तम चीज है ऋषि भी इसको स्वीकार करते हैं पर जब यह विज्ञान अकेला चलता है ईश्वर को छोड़ दिया जाता है मानवता को छोड़ दिया जाता है धर्म को छोड़ दिया जाता है और दया नाम की चीज कुछ नहीं है अगला की कुछ नहीं होता तब यह विनाश का कारण बनता है यही भौतिक विज्ञान की प्रधानता महाभारत काल में थी वो धीरे धीरे होती होती होती होती आगे बढ़ गई अध्यात्म जो ज्ञान विज्ञान था वो घटता चला गया धर्म नीचे चलता चला गया इतना धन बढ़ गया इतनी संपत्ति बढ़ गई इतना विज्ञान इन दृश्य दर्जे से लोगों का दिमाग दूसरे के मारने के सिवाय कुछ नहीं दिखता तो ये विश्व की स्थिति इस समय है और मानव निर्माण की जो विद्या है मानव निर्माण की जो गतिविधियां हैं उनको ये लोग नहीं जानते एक विकास अवश्य हुआ है वो शारीरिक है शरीर कैसे बना शरीर की हड्डियां कितनी है घर पर हमें क्या चीज काम देगी हृदय जैसी चीजों को निकाल के उसको जीवित रख लेते हैं ये बहुत अच्छी चीज है विज्ञान की चीज इसमें बाजीदार कुछ भी नहीं पर इतना होने पर भी ये मानव जाति विनाश को प्राप्त क्यों हो गई मानव जाति विनाश के आगे से आगे समुद्र में जा रही है उसका बचाने का कोई उपाय नहीं है और यही यदि चलता गया तो फिर आगे चल की स्थिति ये होगी अब जितने आप सुरक्षित है थोड़े कम ये सुरक्षा की समाप्त हो जाएगी आज जो जितने हम सुरक्षित ये सुरक्षा की समाप्त इतना तीव्रता से बढ़ रहा है तो इसलिए हमारा समय और भी समय की रखनी पड़ेगी हमको ध्यान आज हम वैदिक परंपरा में बैठे हैं याद रखिए वेदों की परंपरा ऋषियों की परंपरा दर्शन की परंपरा है इसको जानने वाले भूगोल में बहुत कम लोग मिलेंगे ये वैज्ञानिक तो आपको नहीं मिलेगी वैज्ञानिक बात ये नहीं मिलेगी शारीरिक को छोड़ के आत्मा परमात्मा से संपन्न विद्या वैज्ञानिकों के पास में नहीं योग विद्या वैज्ञानिकों के पास में कोई विशेष नहीं इसलिए वो अटकतरी बात उनके साथ आग लग गई यदि इस भौतिक विज्ञान के साथ आत्मा परमात्मा का विज्ञान जोड़ देते धर्म को जोड़ देते तो आज भौतिक वैज्ञानिक बिल्कुल सफल हो जाए और विश्व में ये इतना खतर बचा हुआ है ये बिल्कुल नहीं होता अब विराम